बसमीम व इम्मा फिल इंतकाली और या तो इंतकाल में होगा क्या होगा इंतकाल में पीछे आ जाओ यहाँ ताक़ीद की बात चल रही थी वह ताक़ीद मुआक़दन अई कौन कलाम मुआक़दन ताक़ीद कहते हैं कलाम का पेचीदा होना क्या मतलब कि कलाम मुराद पर ज़ाहिर दलालत न हो क्यों किसी खलल की वजह से खलल कहाँ होगा या तो नज्म के अंदर होगा जैसा कि गुजर चुका है ना यानी लफ्ज़ों में या फिर इंतकाल में होगा एक होता है हकीकी माना एक होता है मजाजी माना हकीकी माना से मजाजी माना की तरफ ले जाने में मुंतकिल करने में खलल होगा उसकी वजह से कलाम के अंदर पेचीदगी पैदा हुई होगी और कलाम में पेचीदगी पैदा हुई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कलीमा उसकी वजह से कलाम फसाहत से निकल जाएगा तो यहाँ उसी को जिक्र फरमा रहे हैं आगे एक शेर आ रहा है तातलबु बदतदारी अनकुम लितकरबू मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ ताकि तुम करीब हो जाओ और मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाए खुश्क हो जाए देखो ये शेर कैसा तो शेर कहा इसके अंदर किनाया इस्तेमाल क्या है पहले तो हल्का से इसका मतलब समझ लो तो मैंने उसमें बताया भी तो शायद है ना मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा ताकि तुम करीब हो जाओ के अभी मैं तुमसे जरा दूर हो जाऊंगा तो दूर होने के नतीजे में जो है और भी मिल जाएगा है ना उल्टा होता है दुनिया के अंदर हालात बदलते रहते कभी खुशी है तो कभी गम है है ना खुशी है तो उसके बाद में गम आ जाता है गम है तो उसके बाद में खुशी आ जाती है नज़दीकी होगी तो नज़दीकी के बाद बहुत आ जाएगा दूरी आ जाएगी दूरी होगी तो दूरी के बाद में क्या होगा फूल आ जाएगा करीब मिल जाएगी तो कह रहा है शायर कि मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ अभी तो मैं दूर हो रहा हूँ जब दूर रहूंगा तो इसके नतीजे में मुझे क्या मिल जाएगा कुर्ब मिल जाएगा और वो कुर्ब भी ऐसा होगा जो डायबी होगा अब जब मैं दूर होऊंगा तो उसकी वजह से रंजो गम होगा आंखें आंसू बहाएंगी शहर के अंदर इस्तेमाल किया कि मेरी आंखें आंसू बहा रहे आंखें आंखें आंसू का बात ही है ये किनाया है कैसे रंजो गम से मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं अरे आंखें आंसू कब बहाएंगी जब इंसान को रंजो गम होगा उसी वक्त तो आंसू बहाती है तो ये किनाया है रंजो गम से शायर ने इसके अंदर दो किनाए इस्तेमाल किए हैं हफ्ती यहाँ जो है एक माना से दूसरे माना की तरफ से इंतकाल हुआ है किनाया इस्तेमाल किया है वो दो हैं एक है ये वह तस्कुआ इनायत हुआ कि मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं इससे किनाया क्या है रंजो गम का कि जब रंजो आंख आंसू बहाती हैं तो वो कब होता है कि जब रंजो गम होता है उसके लिए लाजिम है ना रंजो गम का होना अरे आंखें आंसू कब पाएंगी जब संजोगम होगा तो ये जो किनारा क्या है तो ठीक है चलो एक दूसरा किनारा क्या है मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाएं और इससे किनारा क्या है खुशी का ताकि खुशी हासिल हो जाए खुशी हासिल हो जाए ये जो किनारा क्या है इसके अंदर जो है ताकीद पैदा हो गई है इसमें शायर ने गलती कर दी है किस तरह से ये देखो आंखों से आंसू निकलते हैं है ना आंखों से आंसू मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाए कि अभी ऐसा होगा कि मैं दूर जाऊंगा और दूर जाऊंगा तो मुझे गम होगा और गम होगा फिर तो गम के बाद में मुझे खुशी हासिल होगी तो जो मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं आंखें आंसू बहाने से रुक जाएंगी जब आंखें आंसू बहाने से रुक जाएंगी तो आंखें खुश्क हो जाएंगी और जब आंखें खुश्क हो जाएंगी तो इसका मतलब ये कि खुशी हासिल हो जाएगी आंखें आंसू बहाने से रुक जाएंगी कब जब खुशी हासिल हो जाएगी अरे आंखें आंसू बहा रही है ना इसके अंदर पेचीदगी पैदा हो रही है जिसका समझना भी जरा मुश्किल हो रहा है इसीलिए एक आराम फसाहत से खारिज हो रहा है क्योंकि अगर पेचीदगी नहीं होती तो फिर आसानी से समझ में भी आ जाता और इसके फसाहत से खारिज भी ना होता इससे पहले एक बात कि हमें एक सवाल इसमें पैदा हो रहा है कि इससे पहले हमने और भी बयान पढ़े हैं फसाहत कलाम पढ़ा है फसाहत इससे पहले पढ़ा है ना गरावत वगैरह ये सब पढ़े हैं जोफ़ तालीफ है तनाफुर कलिमात है गरावत है और तनातुर हरूफ बराबर मुखालफत क्यास वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन उनके अंदर तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था ताक़ीद के अंदर मुश्किल क्यों लग रहा है कल के सबक में भी बड़ा मुश्किल हो रहा था समझना और आज के सबक में भी हो रहा है तो ताक़ीद में ही क्यों मुश्किल हो रहा है जवाब इसलिए कि ताक़ीद का बयान है और ताक़ीद के मान आते हैं पेचीदगी और पेचीदगी पेचीदगी होती है समझ गया ना इसमें जो ये जहन एकदम परेशान सा हो रहा है क्यों पेचीदगी है पेचीदगी तो होगी जब ताकत है तो समझिए चलो तो लेता मुदा इससे किराया क्या है किसका सुरूर का खुशी का ताकि खुशी हासिल हो जाए हालांकि इससे किराया किया जाता है आँखों के आंसुओं के बखी बुखल का कि मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाए अब यहाँ पर जमने का किनाया होता है क्योंकि तो आंखें आंसू बहाने से रुक गई हैं अब ये पानी नहीं निकालनी कंजूस हो गई ये बकील है ये किनाया होता है असल लेकिन शायर ने जो तो किनाया क्या है किसका क्या है खुशी का इसके अंदर पेचीदगी है किस तरह से हाँ जम जाए खुश्क हो जाए इसके अंदर पेचीदगी है पेचीदगी है तो इस वजह से फसाद से खारिज हो रहा है पेचीदगी किस तरह बताया था ना मैंने ये मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाए अब ये होगा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और दूर चला जाऊंगा आंखें आंसू बहाएंगी रंजो गम होगा और फिर आंखें आ, आ जाऊंगा खुशी हासिल हो जाएगी आंखें आंसू बहाने से रुक जाएंगी आंखें आंसू बहाने से रुक जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा उसके बाद में खुशी हासिल हो जाएगी तो ये इसके अंदर बहुत सारे लवाजिम बाईदा तस्करा वसाइद वगैरह को मिलाना पड़ रहा है जब जाकर बात समझ में आ रही है जैसे एक उर्दू की मिसाल मैंने कल भी दी थी वो भी किसी दर्जे में वसाई लवाजी में बईदा की मिसाल बन जाती है वसाई तक असीरा की कौन सी वाली मगज को बाग में जाने न देना वरना फोन किसका होगा परवानों का होगा तो देखो इसके अंदर बात समझ में नहीं आती जब तक इसमें बहुत सारे वास्ते न मिल जाए कैसे है मालूम है ना अरे मगज ये सेब की मक्खी बाग में जाएगी बाग में जाएगी तो वहां से फलों वगैरह का रस चूसेगी रस चूस के फिर छत्ता बनाएगी छत्ता बनाएगी उसमें मोम भी होगा मोम की फिर मोमबत्तियाँ बनेंगी मोमबत्तियाँ जलेंगी और उसके बाद में फिर परवान आएंगे तो फिर क्या होगा फूल होगा चलो क्या तो ताकीब को दूर कर दे ताकि फंसी हो जाए आगे बढ़ा दूंगा टाइम तो बढ़ा पता है कुछ है ही ना तो क्या बताएगा कोई दे खाली और या तो इंतकाल में इंतकाल में यानी वही मान हकीकी से मान मजाजी की तरफ मुंतकिल करने अतफ़ नाला कौली इम्मा नज़मी ये अस है मुसनफ़ के ये अस है मुसनफ़ के कौल इमना नज़मी पर अई ला यकून कलाम ज़ाहिर दलालती अलमुरादी यानी कलाम मुराद पर ज़ाहिर दलालत न हो बेखल वाक़िन की इंतकाल जहन मिनल मानल अवली ऐसे खलल की वजह से जो वाक़ होने वाला है जहन के मान अव्वल से मुंतकिल करने में माने अव्वल से मुराद नीचे लिखा हुआ है मान हकीकी है ना लोग भी हकीकी माना जो है अलमफहूमी बेहद बिल्लो आगे इन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी माने अव्वल से जो समझे जा जो समझे गए हो लगत के अतबार से अच्छा इंतकाल कहाँ होगा तिलस्तानी दूसरे माना की तरफ दूसरे माना कौन से मजाजी माना अल मकसूदी जो के मकसूद हैं तो माने अव्वल से माने सानी की तरफ जहन को मुंतकिल करने में खलल वाक़ होता है यानी हकीकी माना से मजाजी माना की तरफ जहन को मुंतकिल करने में किनारे के अंदर यही होता है ना कि हकीकी जो माना है उससे मिजाजी माना की तरफ इंतकाल हुआ करता है वजाल का बिसबब इराद लवासमबीदती और ये लवाजिम बदा यानी दूर के लवाजिम को लाने की वजह से होता है अलमुफ्तरती इलवसाइल कसीरती जो मोहताज होते हैं बहुत से वसाइत के वसाइस की तरफ वसाइस वास्ते की जमा जो बहुत से वास्तव के मोहताज होते हैं जैसे यही मिसाल मैंने अभी दी थी मगज को बाग में जाने न देना तो इसके अंदर बहुत सारे वास्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाजिम हैं क्योंकि अरे मोमबत्ती मगज वो जो परवाने वो जलेंगे मोमबत्ती से तो उसके लिए क्या ज़रूरी है मोम का होना और फिर मोम के लिए क्या ज़रूरी है छत्ते का होना उसके लिए छत्ते का होना लाजिम है है ना और छत्ते के लिए लाजिम है क्या शहद की मक्खी का होना शहद की मक्खी के लिए क्या लाजिम है हम्म अरे उसके बाग में जाना तो देखो कितने सारे लवाजिम बाइदा हो रहे हैं और बहुत सारे वास्ते इसके अंदर आ रहे हैं जब जाकर कोई बात हल हो रही है और ये ये तो फिर भी इसके अंदर इतनी ताकीद नहीं है हाँ इसमें इतनी ताकीद नहीं है इस तो एक दफे को ठीक किया है लेकिन इसके अंदर जो है किताब के अंदर उसके अंदर ताकीद पाई जा रही है जो तो मोहताज है वसाइत की तरफ हम्म, उन करीनों के पोशीदा होने के साथ जो दलालत करने वाले होते हैं मकसूद पर ककौल जैसा कि दूसरे का कौल हम ये आखिर कहा क्यों अरे पीछे आया था किसी और का शेयर किसका दफ का तो कहीं कोई ये ना समझने लगे अगर ये कह रहे थे ककौली ही जैसे उसका कौन तो क्या हो जाता ककौली ककौल दफ लेकिन ये दफ का नहीं है बल्कि आखिर का है आखिर कौन है वो अब्बास अहनफी और वो अब्बास इबन अहनफ हैं वलम यकुल का कौली ही मुसन्फ ने ककौली ही नहीं कहा मुसन्फ से मुराद मुसन्फ का नाम क्या है मुसन्फ का नाम क्या है ये है ना अरे वलम यकुल मुसन्फ ने नहीं कहा ककौली ही मुसन्फ ने ककौली ही नहीं कहा है क्या नाम है उनका अल्लाह तफ्तानी है इसके माते अल्लामा अब्दुलरहमान अल कजवीनी है ना तो इतना तो कम से कम बता दे इस मतन के मुसनफ है अच्छा भाई वलम नकुल का कौली ही ये मतन के अंदर है ना और मुसन्फ ने कौली नहीं कहा ली अल्लाह युतवाहमा ताकि वहम ना हो जाए कहेगा अवदु जमीरी इल फरजदक फरजदक की तरफ जमीर के लौटाने का लौटने का शायर तकरबू मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ ताकि तुम करीब हो जाओ मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं ताकि वो जम जाए हो जाए बीच में एक लफ्ज लेकर आए हैं बिर रफ़ी व सही ये के साथ है क्या तत्बू है वो वो हाँ यही सही है बाद लोगों ने तत्बा कहा है इसलिए उसको जो है इन्होंने रद्द कर दिया है अब यहाँ तुम्हें एक एतराज़ करना चाहिए लेकिन कर नहीं हो सात लोगों पर हम्म, मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ हम्म, अरे एतराज कर दे मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ सिर्फ सात लोगों मैं तर्जुमे तर्जुमे में तर्जुमे मैं तुमसे घर की दूरी तलब कर रहा हूँ करता हूँ कर रहा हूँ एक ही बात है हाल है हाल और सीन आ रहे तो सीन करूँगा होना चाहिए ना या है तो देखो इधर देखो आशिया नंबर दो देखो इन्निल यौम इला अन्नसीना समझ आ गई ये ताकीद के लिए जायदे सी और ताकीद के लिए इस्तेबाल के लिए नहीं है हम्म। अच्छा अब आगे देख लो डाला सकबत दुमोई मुसन शायर ने डाला कफाइल शायर शायर ने सकबत दुमोई सकबत दमों को यानी आंसुओं के बहने को किनाया करार दिया है किससे अम्मा यलजमु उस चीज से जो फिराकुल मोहब्बती हम्म। जिससे मोहब्बत की जुदाई लाजिम आती नहीं महबूबों की महबूबों की जुदाई लाजिम आती है शायर ने तकबत दुमो से किनाया करार दिया है तकबत दुमो को किनाया करार दिया है अम्मा अल्जम फिराकल ही उससे जो दोस्तों की मोहब्बत को लाजिम है और दोस्तों की मोहब्बत दोस्तों की जुदाई को लाजिम दोस्तों की जुदाई को लाजिम क्या चीज़ है मिनल का बत वलहजनी यानी रंजो गम नहीं समझ आया ना शायर ने सकबत को किनाया करार दिया है उससे जो दोस्तों की जुदाई को लाजिम है यानी रंजोगम अरे दोस्तों की जुदाई जब होती है तो क्या होता है रंजोगम होता है तो यहाँ पर किनाया करा दिया है सकबत दुमू होके मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं तो इससे किनाया करा दिया है दोस्तों की जुदाई को और दोस्तों की जुदाई हाँ उसके लिए लाजिम क्या है रंजो का होना यानी रंजो से किनाया करार दिया है ठीक है ना अरे समझाई वाह और दुरुस्त कहा इसमें यह दुरुस्त है शायर साहब लेकिन लाकिन अख्ता फी जाली आईन किनायतन अमना युजब दवाम तलाक़ी लेकिन ख़ता कर दी गलती कर दी है काय में जमूद आन को किनाया करार देने में अम्मा उससे जिसको हमेशा की मुलाकात साबित करती है हमेशा की मुलाकात से क्या चीज़ साबित होती है मिनल फ़रही व सुरूरी यानी फ़रहत व खुशी अरे कोई हमेशा हमेशा के लिए जो है मुलाकात हो किसी से मिलना हो और उसके साथ में रहा जाए अच्छी तरह से तो उससे हमेशा ही खुशी हासिल होती है तो देखो यहाँ पर तजमुदा से जो फरह सुरूर मुराद लिया है किनारा क्या है फरह सुरूर का इसके अंदर इसने शायद ने क्या करी है गलती की है क्यों इसलिए कि इससे किनाया फरह सुरूर यानी खुशी का नहीं किया जाता बल्कि आंखों के आंसुओं के बुखल का किनाया किया जाता इंतकाल बुखलिहा इसलिए कि के से ऐन से के बुखल की तरफ इंतकाल होता है इससे भी बिदमोई आंसू होते क्या आंखें आंसू नहीं निकाल रही हैं कब हाल इरादत बुका हंसने के वक्त में अरे किसके वक्त में रोने के इरादे की हालत में कि रोने का इरादा है कि हालत है रोना चाह रहा है लेकिन आंखें आंसू ही नहीं निकाल रही है ये सब इस चीज़ का किनारा किया जाता है तजमुदा से तो कि आंखों में जुमूद के जुमूद ऐन हो गया आंखें जम गई हैं तो रोना चाह रहा हूँ लेकिन रोई नहीं हुई नगे फरह सुरूर का किनाया होता है तो इसके अंदर गलती की है वही हालतुलजनी अला अहिबती और वो रंजो गम की हालत महबूबों की जुदाईगी पर दोस्तों की जुदाईगी पर ला इलामा कसदरूरी ना कि उस चीज़ की तरफ यानी उस खुशी की तरफ जिसका उसने इरादा किया क्या मतलब यानी ना के उस चीज़ की तरफ इंतकाल होता है किनारा किया जाता है किसका कि जिसका उसने इरादा किया और वो क्या चीज़ है मिनत सुरूर यानी खुशी कि खुशी का इरादा नहीं खुशी से किनारा नहीं किया जाता बल्कि का किनारा किया जाता है कि आंखें बकील हो गई हैं वो आंसू नहीं निकाल रही हैं अल्हा बिल मुलाकात अरे खुशी का जो मुलाकात से हासिल होती है क्या हासिल होती है मुलाकात से खुशी जो खुशी मुलाकात से हासिल होती है आई समझ में अरे कुछ पल्ले पड़ रही है कुछ लग रही ताकीद भी मज़ा आ रहा है नहीं ताकीद अब इसका शेर का मतलब बयान कर दिया उसके बाद मसला ख़त्म वमानल बैती और शेर का मतलब शेर का माना ये है कि इन्नी अलयम उतयब नफसन बिलबुद वलकराती मैं आज नफ्स को यानी अपने आप को बोध और फिराक पर उतु खुश कर रहा हूँ कि अब जरा दूर हो जाए फिर खुशी मिल जाएगी उसके बाद में मैं आ जाऊँगा फिर अपने खुशी से रहेंगे वला मुकासातिलजान वलअशवाक़ी और मैं उसको यानी अपने नफ्स को रंज गम और लगाव के बर्दाश्त करने पर सब्र दिला रहा हूँ उसको आमादा कर रहा हूँ आदि बना रहा हूँ मैं इसको आदि बना रहा हूँ रंजो गम के बर्दाश्त करने पर फिर तो जरा रंजो गम को बर्दाश्त कर ले इसलिए कि रंजो गम के बाद क्या मिलने वाला है खुशी मिलने वाली है अगर अभी से ही तो खुद सोचेगा कि अभी खुशी ले लो उसके बाद में क्या है रंजो गम है और इससे देखो आखिरत की तरफ भी इशारा होता है है ना कि दुनिया के अंदर आदमी थोड़ी सी रंजोगम बर्दाश्त कर ले उसके बाद में क्या है खुशी ही खुशी है वह तजर्रा गुस्सा सुहा और मैं उसके गुस्से को गुस्से यानी रंजोगम मुराद है और मैं उसके रंजोगम को घूट घूट करके पी रहा हूँ हूँ घूट घूट करके पी रहा हूँ यानी बड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ हम्म। वातहमलू लिहाजलिहा हजनन युफ़ीज़ुद्दमुआ मिन आइनैया और मैं उसकी वजह से किसकी वजह से यानी नफ्स की वजह से हजन को रंज गम को बर्दाश्त कर रहा हूँ ऐसे रंज गम को बर्दाश्त कर रहा हूँ युफी युफीज़ुद्दमुआ आई नैया जो मेरी आंखों से आंसू बहा देता है क्यों लिअतसब्बब बिदालिक इला वसलिन ताकि मैं सबब बन जाऊं उसके ज़रिए से इला वसलिन ऐसे वसल का जदूम जो हमेशा रहे वह मसरतिन ला तजूल और ऐसी खुशी का जो जाइल न हो क्यों जी फ़ैन सब्र मफ्ताहुल फरजी इसलिए कि सब सब्र फरज की कुंजी है अरे फरज किसको कहते हैं मालूम है ना फरज के माना कुशादगी कहते हैं हाँ इसलिए कि सब्र कुशादगी की कुंजी है चाबी है हाँ? वमा कुल्ली उसरिन युसरा और हर तंगी के साथ आसानी होती है यानी हर तंगी के बाद में क्या मिलती है आसानी मिलती है हम्म। पहले जो किताबें पढ़ा चुके उसके बाद में इस साल क्या उनमें आसानी फिर उसे गुलाम बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोपहर का वक्त उसके लगाना पड़ेगा लेकिन तलब की दो दोपहरी उसमें लगानी पड़ेगी उसके बाद जो सबक हो था और अब तो और अब जो है कोई नहीं जा हो गया काम लेकिन अब तलब की दोपहरी काय में लगे अब इसके अंदर लगानी पड़े अब जब इसके अंदर रंजो को हम बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा थका लेंगे तो क्या होगा आइंदा इंशाल्लाह इसमें भी आसानी हो जाएगी वमागुलेंगे और हर तंगी के साथ यानी उसके बाद में आसानी है वलिकुल्ली बिदायतिन निहाया और हर इब्तदा के लिए इंतहा होती है वलाशारीख अब्दुल काहिरी फी दलाइल और इसकी तरफ इशारा क्या है शेख अब्दुल काहिर ने दलाइल एजाज में ये जो तफसील आ रही है इसके तरह वाल कौमी हा होना कलाम फासिद और लोगों का यहाँ कलाम फासिद भी है और की शरही जिसको हमने शराह के अंदर वारिस किया है यानी इसके अंदर लिख दिया है शराह से मुराद कौन सी है ये ये तो अल्लामा तफ्ताजानी कह रहे कि शराह के अंदर मैंने उसको लिख दिया है कौन सी शराह ये जो तकमीर है मौलाना जमील साहब की है इसकी शराह के अंदर इसकी शराह कौन सी है हाँ मुतवल मुतवल के अंदर लिख दी है जिसको ये देखनी हो कि इसके अंदर और किसी को ये हो कि भाई मैं तो इसको और बहुत सारे मतलब देखना चाह रहा हूँ तो मुतवल लो देखो <coughs> ठीक है फसाहत कलाम खलूस मिम्मा जिक्रा कहा गया है कि कलाम का कलाम की फसाहत खलूसहू मम्मा जिक्र उसका खाली होना है उन चीज़ों से जो जिक्र की गई ये तो है ही अब कीला का ताल्लुक आगे इबारत से वमिन कसरत तकरारी कहा गया है वमिन कसरत तकरारी और कसरत तकरार का होना व तताब इजाफाती और तताब इजाफात का होना कसरत तकरार के बार बार जो है एक ही चीज़ आ रही है कसरत होती है तीन से है ना एक दो तीन तीन हो जाता तो फिर कसरत हो जाती है और तताब इजाफा बार बार इजाफतों का आना पे दर पे लगातार इजाफतों का आना इसके जरिए से भी क्या होती है ताकीद पैदा होती है बाद लोगों ने ये भी कहा है और उसकी मिसाल आगे आ रही है ही जैसा कि उसका कौल शेर وتسعدني في غمرة بعد غمرة اصل کا شعر ہے صبوح لها علیہا صبوح لها منها علیہا شواہد ہے نا ملا صبوح لها منها علیہا شواہد सुबोहन सुबोहन कहते हैं तेज रफ्तार घोड़ा अच्छा चलने वाला घोड़ा और खुश रफ्तार घोड़ा लहा उसके लिए मिनहा उसी में से आलिहा उसी पर क्या है शवाहिद दलाइल है तो देखो यहाँ पर हा हा हा तीन जमीर आ गई तो कसरत तकरार हुआ कहते हैं कि कसरत तकरार हुआ इसलिए ये कलाम तथा से निकल जाएगा इसके अंदर ताखीर होगी इसलिए कसरत तकरार भी ताखीर का सबक है ये कहना चाहते हैं अब इसको जो है हल कर लो वतुसनी फी गमरदिन बाद गमरदिन पूरा शहर यहाँ पर तशरीफ के साथ आ रहा है और मुझे और वो मेरी मदद करता है एक मुसीबत के बाद एक मुसीबत में कौन मदद करता है और मेरी मदद करता अच्छा। है एक मुसीबत के बाद एक मुसीबत में यानी मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे मेरे ऊपर कोई मुसीबत हो क्योंकि हम्म। मेरे साथ में एक मददगार है कौन है जी वो मददगार सुबूहन ऐसा घोड़ा क्या सिफात है उसकी घोड़े की आई फारासन हसन जदगी यानी खुश रफ्तार घोड़ा ऐसा खुश रफ्तार घोड़ा खुश रफ्तार किसे कर रहा हूँ मैं माना अरे जरियम के माने चलना और हुसन के माने अच्छा है ना हुसन खुश हो गया और जरा चलना रफ्तार ऐसा खुश रफ्तार घोड़ा ला तो वो राह की बहा जो अपने सवार को थकाता नहीं का नल का नहा तजरी आलमा गोया के वो पानी पर चल रहा ऐसा लगता है पानी पर चल रहा यानी उसके अंदर बैठने में भी कोई परेशानी नहीं होती है बड़ा शानदार चलता है तो मेरी जो है वो मदद करता रहता है इसलिए मुझे कम नहीं होते हैं लहा उसके लिए लहा ये सिफत है सुबह ऐसा खुश रफ्तार घोड़ा लहा जिसके लिए क्या है है शवाहिद दलाइल अरे जिसके लिए दलाइल हैं शवाहिद हैं मिनहा ये मिनहा हाल मिन शवाहिद ये शवाहिद का हाल है तो लहा जिसके लिए दलाइल हैं मिनहा उसी में से यानी वो दलाइल जो है उसी की ज़ात से खुद ब खुद नज़र आ जाते हैं कभी इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे जो है सवार थकता भी नहीं है और ये बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ में चलता है मिनहा हाल मिन शवाहिद ये शवाहिद से हाल है अलिहा उस पर किस पर यानी उसी घोड़े पर मुतन बशवाहिद था कि वो शवाहिद क्या है उसी पर है उसी घोड़े पर है शवाहिदू कहते हैं शवाहिदू फ़ाइल ज़रफ़ी ये ज़रफ़ का फ़ाइल है ज़रफ़ क्या है यहाँ पर कहाँ ढूंढते फिरोगे मैं खुद ही बतला दू आनी लहा यानी लहा मैं मुराद लेता हूँ लहा को यानी लहा का फ़ाइल है अरे लहा ये ज़र्फ है और शवाहिद इसका फ़ाइल है इसी वजह से इस पर नसब आ रहा शवाहिदू नसब आया ना इस पर जबर आया है ना कसरा नसब नहीं आ रहा है इसके अंदर अब दो चीजें आ गई या तो रफा है या क्या है कसरा है रफा होगा या कसरा होगा यूं क्यों नहीं कहा कि पर लफा आ रहा है ताकि वो दोनों चीजें निकल जाती मतलब बलागत पढ़ रहा है फिर भी कलाम से निकल रहा है अब उसका मतलब देख रहे इस शेयर का यानी अन्न लहा मिन नफ्सिया अलामातिन दालतिन अला नजाबतिहा बेशक उसके लिए उसी की ज़ात में से ऐसी अलावतें हैं जो दलालत करने वाली हैं अला नजाबतिहा उसकी उमदगी पर कीला कहा गया है बहुत आसान है इसमें कोई मुश्किल ना है कीला से डरो मत पता से तुम डरोगे अतकरारू जिक्र सही मारतन बादा उतरा तकरार किसको कहते हैं अभी कल तकरार किया था सुलेमान अच्छा क्या मतलब एक मरतबा यहाँ सुनकर गए थे और दूसरी मरतबा वहां तो एक चीज को दो मरतबा कहने को क्या कहते हैं तकरार कहते हैं ये कह रहे हैं कि देखो तकरार एक चीज को जिक्र करना मर्रदन बाद होगा एक मरतबा के बाद दूसरी मरतबा दूसरी मरतबा के बाद एक मरतबा यानी एक चीज को दो मरतबा जिक्र करने को तकरार कहते हैं वला या, और यहाँ पर इन्होंने जो ताकिद का सबक करार दिया है किस चीज़ को तकरार को ही कसरत तकरार को सबक करार दिया है देखो तीन मरतबा है तो तीन मरतबा में कसरत तकरार कैसे होगी अरे कसरत तकरार तो जब होगी जब छह मरतबा हो क्यों लेकिन तकरार किसको कहते हैं दो मरतबा को और दो और मरतबा मिला है चार तो अभी तो तकरार नहीं हुआ ताजुद हुआ और फिर एक मरतबा और दो को लेकर आओ छ अरे दो दो दो अभी तो वो तीन अरे तकरार दो मरतबा कहने को कहते हैं ना तो एक हो गया फिर दो मरतबा कहा तो कितने हो गए चार फिर दो मरतबा कहा तो छः तब तो एक दो और तीन अब हुई कसरत तुम्हें छः मरतबा जमीन आदि जब कहना चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर कसरत तकरार है और इसकी वजह से इसमें ताकीर है इसका समझ आया नहीं आया ना तकरार किसको कहते हैं एक चीज को दो मरतबा कहना ठीक है तो अब ये हुआ तकरार एक तकरार ये हो गया और एक तकरार इधर को खड़ा कर दो मान लो चलो हो गया तो तीन मरतबा से तो होगा एक दो और तीन अभी तो होगा कसरत तकरार और यहाँ जो हो रहा है या तो तीन मरतबा जमीन आ रही है सिर्फ यहाँ कसरत तकरार कहाँ हुआ है तो तीन मरतबा आया और छह मरतबा होता जब जाकर कसरत तकरार आएगा हाँ? कसरत सालिसन और ये बात मख्फी नहीं है मख्फी नहीं है कि उसकी कसरत हासिल नहीं होगी उसके तीन मरतबा जिक्र करने से तीन मरतबा जिक्र करने से कसरत हासिल नहीं होगी क्योंकि कसरत तकरार है और तकरार का मतलब दो मरतबा और तकरार कसरत कब होगी जब तकरार तीन मरतबा पाया जाए यानी के ज़मीरत छह मरतबा पाई जा तो जब जाके कतरा से तकरार पाया जाएगा मुसनफ़ आली रहमा कहते हैं वफ़ी ही नजर और इसके अंदर नज़र है नज़र क्या है बस हो गया आसान लेनल मुराद अबिल कसरत हा होना मायुपा वाहदता इसलिए कि मुराद कसरत से यहाँ वो है जो वाहदत के मुकाबले में जो वाहदत के मुकाबले में हो यानी एक के मुकाबले में हो वलायफ़ा हसूलवा बिक्री सालिसन और मख्फी नहीं है उसका हासिल होना उसके तीन मरतबा जिक्र करने से जिक्र होना यहाँ पर क्या मुराद है मुराद ये है कि वहादत के मुकाबले में हो एक के मुकाबले में तो अब देखो कसरत तीन से कसरत हो जाएगी एक दो और तीन अरे तीन से तो कसरत हो जाती है यहाँ पर जो तकरार मुराद है वो ये नहीं कि दो मरतबा बल्कि तकरार है वाहदत के मुकाबले में तो एक दो तीन तीन मरतबा हो गया हो गया किस तकरार ठीक